श्लोक है किसका ये ये इंद्रिय प्राण यवदारय दृष्टा घटा भिन्न सर्वधा नाघटो यथा देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधार्य अजडात्मा वदा भांति जड़ात्मा वदा भांति यत् जड़ा अपि देहेन्द्रिय मन प्राणा सोहम सोह

यः बोधायय अजानात्मा अजानात्मा वराभान्ति इभान्ति यत् यत्सामि यज्जाड प्राणो तथा नाहमिति दृश्यविलक्षणं द्रष्टारम् अनुमानेन गुणं सम्प्रदाय देहेन्द्रियादयो भावहानादिव्याप्तिक्षमाः यस्य सन्निधिमात्रेण सोऽहमित्यवधारय हम लोग बीस ना श्लोक तो देख लिया आगे टीका हो गया इसमें टीका हो गया था उसका तो टीका पूरा था आगे श्लोक हुआ आत्मनो बुद्धि सद व्यतिरिक बुद्धि तद वृत्ति व्यतिरेके हेत्वंतरम आह आत्मनो बुद्धि तद वृत्ति व्यतिरेक आत्मा बुद्धि तदवृत्ति व्यतिरेक तो आत्मा में क्या वृत्ति हो जाएगा हाँ। अगर होगा राम पिता होगा ना मतलब रामस्य है रामस्य पिता होगा ना रामस्य पितृत्व होना चाहिए रामस्य कहने से पितृत्व कहना चाहिए अगर यहाँ आत्मा में ष्ठी लेंगे तो बुद्धि तदवृत्ति तद व्यक्तित्व आत्मा से व्यतिरेक व्यतिरेक भिन्न आत्मा से बुद्धि तद व्यतिरेक तो बुद्धि बुद्धि वृद्धि का व्यतिरेक है तो आत्मा से व्यतिरेक किससे भिन्न कहते हैं आत्मा से भिन्न है और उसमें हेतु अंतरम क्यों भिन्न है उसके लिए हेतु कहते हैं हेतु अंतरम आभा हेतु कर्म में समाज कैसे है अन्यो हेतु हेतु पुण्य है इसलिए अन्यो हेतु हेतु कर्म ये समाज का नाम है मयूर व्यंसका व्यंसक का अर्थ होता है ठग मयूर बड़ा ठग होता है तो शायद कुछ करता होगा हमको पता नहीं मयूर को क्यों ठग कहा जाता है वो देने से कुछ खाने के लिए उसी समय में रोज रोज आएगा ये तो उसका स्वभाव है क्योंकि उसको तो क्यों कर देता हाँ। तो है कैसे हाँ आता है वही लेकिन जो ठग क्यों है पता नहीं होता व्यंसक का अर्थ है कि ठगने वाला तो मयूर को क्यों ठगने वाला कहा गया ये पता नहीं मयूर को ठगी ठगी था ना एक पक्षी उसकी पैर ले लिए उसको ठगा कहा जाता मयूर स्वयं ठग है जी उसकी पहले ही किसी बख्शी ने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बताते हैं अच्छा ऐसा फिर कहानी है ठगला होता है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब वो स्वयं ठग गई थी अच्छा अच्छा अच्छा तो, तो ये अच्छा बात है स्वयं ठग जाना अच्छा बात है दूसरों को ठग देना अच्छा बात है और अगर हमको पता चलता है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और हमको ठगता है और हमको पता चलता है वहाँ तो हमको साधु है ना थोड़ा बहुत संकल है कह देना है तो आप हमको बोलेंगे तो हम और दे आपको किस प्रकार के आत्मनो बुद्धि वृत्ति व्यतिरेके हेतु अन्य हेतु कहते हैं अभी आत्मा को किसे किसे भिन्न कर रहे हैं बुद्धि बुद्धि और बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति हम बुद्धि और बुद्धिवृत्ति से भी भिन्न है ये सिद्ध करते हैं जहाँ आत्मा शब्द आता है अर्थात हम हम बुद्धि और बुद्धि का वृत्ति से भिन्न है श्लोक अगमन में मनो अन्यत्र अगमन में मनो अन्यत्र

अन्वय होगा मैं मनो अन्यत्र अगमन मैं मनो अन्यत्र अगमन सांप्रतम से स्थिरीकृतम एवं यो धीवृत्ति व्यक्ति एवं यो धीवृत्ति व्यक्ति सोहम इति अवधारय मैं मनो अन्यत्र अगमन मैं का अर्थ मम मनो अन्यत्र अगमन अन्यत्र में क्या शत्रु बन जाएगा सप्तम विभक्ति के स्थान पर से अन्यत्र अन्य स्थान में अगमन अगमत मनो अगमत अगमत ये कौन सा लकार का हो जाएगा हम्म? लंग लकार में उसे बनी अच्छा नहीं होगा नहीं लंग लकार में नहीं होता अगमत कैसे हो गया वहाँ कहाँ अंग हो गया तो मैं मनो अन्यत्र अगमत गया था अगमत तो पुनः कैसे हो गया तो मैं मनो अन्यत्र अगमत मेरा मन अन्यत्र गया था सांप्रतम सांप्रतम वर्तमान का अवे है सांप्रतम से स्थिरीकृतम स्थिरीकृतम दीर्घ का किस सूत्र से आएगा स्त्री गोष्ठी स्त्री गोष्ठी हो गए संपत्ति करते चीव करते अर्थात वहाँ लगता है अभूत तद्भाव पहले नहीं था अभी हुआ पहले स्थिर नहीं था अस्थिरम स्थिरम भवती इति स्थिरी भवती जैसे अगंगा गंगा भवती नाली का जल आ करके गंगा जी में मिल गया अभी तो उसको नाली का जल कहेंगे क्या तो गंगा हो गया तो गंगी भवती अगंगा था अभी गंगा हो गया इसी प्रकार की यहाँ अस्थिरता अब स्थिर हो गया तो कहते स्थिरीकम तो मैं मनो अन्यत्र अगमत मेरा मन अन्यत्र गया था अभी स्थिर हुआ है तो मन का चलन को जानता है और अभी स्थिर हुआ ये भी जानता है कहते हैं एवं यो धी वृत्ति वेती धी वृत्ति समाज कैसे होगा वृत्ति वृत्ति धी का वृत्ति की वृत्ति एवं यो धी वृत्ति व्यक्ति व्यक्ति जाना थी ज्ञान जो धी वृत्ति को जानता है सो अहम अवधारय वो मैं हूँ हमारे बुद्धि की वृत्ति को हम जानते हैं जो बुद्धि की वृत्ति को जानता है वो मैं हूँ जो घट को जानता है वो मैं नहीं हूँ जो घट ज्ञान को जानता है क्यों हम क्या कहते हैं अयम घटम और आगे घट ज्ञानवान घट ज्ञानवान अहम कहते हैं तो घटवान अहम वो तो अलग अर्थ हो गया घट का मैं मालिक हूँ किंतु जब घट को देखते हैं कहते हैं अयम घटम किंतु जब घट ज्ञान को देखता है तब तो कहते हैं घट ज्ञानवान अहम इसी प्रकार की घट ज्ञान हो गया बुद्धि की वृद्धि बुद्धि वृद्धि को जितना जितना हम जानेंगे उतना उतना हम साक्षी में स्थित होंगे जितना जितना अयम घट अयम पर्वत अयम नदी यम नदी इस प्रकार की करते रहेंगे उतना हम वैभव बढ़ेंगे इंद्रियों का व्यवहार घटना चाहिए इसको ज्यादा देखना चाहिए जब इसके साथ बहुत सटा रहेगा अनुभूति के साथ फिर इसको देख नहीं पाएगा जो जिसके साथ बहुत सटा होगा उसको निरपेक्ष होकर के देख नहीं पाएगा तो जो बहुत ज्यादा इंद्रियों में जो लगे रहेंगे वो लोग बुद्धि को देख नहीं पाएंगे तो इसलिए हम लोग का कार्य है कि अधिक बुद्धि को देखना चाहिए बुद्धि बुद्धि की वृद्धि अभी बुद्धि चलती है अभी बुद्धि नहीं चलती है इस प्रकार की हमको अधिक मतलब हमारा हम्म, चलना चाहिए हमारा स्थिति होना चाहिए बुद्धि का वृद्धि को देखेंगे आधा सेकंड एक सेकंड देखेंगे फिर चला जाएगा कहाँ घूमेगा जाने दीजिएगा क्योंकि अभ्यास होना चाहिए कि कभी तो देखेंगे इसलिए कुछ लोग शुरू शुरू में नियम लगाते हैं क्या करते हैं जिस समय मंदिर में जाएंगे हम लोग पांच का प्रणाम तो करते ही है कम से कम उतने समय में तो देखेंगे ये भी एक दिन में नहीं हो जाएगा ये तीन महीना लगेगा तो अभ्यास करते करते कोई भी पदार्थ अभ्यास करने में समय लगता है तो ये धीरे धीरे अभ्यास करेंगे पहले गए भाषिकर भगवान को प्रणाम किए शिव जी को प्रणाम किए उस समय में देखेंगे क्या होता है निर्दिष्ट समय पर लगा देंगे ना धीरे धीरे रूटीन आएगा खाली छोड़ देंगे कि दिन में कभी तो भी पांच बार करेंगे ये नहीं होगा निर्दिष्ट जगह पर बांध देंगे तो ये जब पांच बार हम प्रणाम करते हैं मंदिर में ये प्रणाम का समय में इसको देंगे ऐसा करने से धीरे धीरे देखेंगे तीन महीना में ये अभ्यास बन जाएगा घी वृत्ति को जो जानता है सो अहम वही मैं हूँ वही साक्षी है अंतिम में वही करना है घी वृत्ति को जानेगा बुद्धि की वृत्ति बुद्धि की वृद्धि घटाकार पटाकार शिवाकार कुछ भी हो रहा है महाराज आकार कुछ भी हो रहा है अंतिम में धी की वृद्धि आ जाएगा कि अहम ये तो अहम में कोई परिच्छेद नहीं आना चाहिए मैं मनुष्य हूँ गोरा हूँ काला हूँ मोटा हूँ बोलता हूँ करता हूँ नहीं करता हूँ वो सब विचार नहीं केवल अहम इसी वृत्ति को जब जानेगा तब कहेगा कि ये ब्रह्म ज्ञानी होगा ये स्थिति तक हमको लेना है इसलिए दी वृत्ति को जानने का स्वभाव बढ़ाना है तो मैं मनो अन्यत्र अगमत सांप्रतम च स्थिरीकृतम एवं यो धीवृत्ति वेति स्वहम इति अवधारय इसमें सामान्यतः क्या होता है आजकल बहुत ऐसे सारे संस्था आते हैं लोग आते हैं कहते बस साक्षी भाव तो होना है इसे क्या ये सब करते हैं हम लोग तो साक्षी बनना है तो कह देना तो सरल है तो आपको आधा सेकंड तक बना भी दे सकते हैं किंतु तो उसके बाद आपको देखेंगे हम तो जो गंगू है वही गंगू है इसको रोकेंगे कैसे जब तक तो ये रोकेगा नहीं ये साक्षी भाव कैसे है तो जितने भी सब लोग सिखाएंगे साक्षी बन जाओ साक्षी बन जाओ तो आप कहेंगे ये तो रोकने से तो हम साक्षी बनेंगे रोकेगा कैसे तो फिर कहेंगे आप ये करो वो करो कुछ करो सबसे ऊंचा हो गया ये कि जिसमें आप बुद्धि को ही लगाते अब मन को लगा करके ध्यान भोजन कुछ करेंगे शरीर को लगा करके कुछ करेंगे उससे ये भगवान में बुद्धि को लगाना इसलिए बुद्धि को लगा करके जब हम कुछ साधना करते हैं ये जल्दी आपको उस स्थान पर रहते हैं इसलिए बुद्धि को लगाते रहना इसमें चल जाएगी विश्राम दे देंगे थोड़ा चले जाएंगे शिवजी का दर्शन कर लेंगे नीलकंठ भगवान दर्शन कर लेंगे कहीं कर लेंगे फिर लगे रहेंगे कल जाएगा तो थोड़ा विश्राम दे देंगे इस प्रकार की बुद्धि को ही लगाना है तो धीरे धीरे बुद्धि स्थिर हो जाएगा जो जानता है बुद्धि की वृत्ति को बुद्धि का वृद्धि को वही मैं हूँ ये एक ही श्लोक उच्चारण करेंगे च एवं यो वेत्ति वृत्ति अष्टादश श्लोकों का टीका देखिए अठारह अष्टादश श्लोक वन एट उसमें टीका में दिया था किंग तद अनुमान इति अपेक्षायाम पंचावय अनुमान विचार यदि ऐसा कहा था अष्टादश आपको ये हिंदी पढ़ना थोड़ा बहुत कठिन है तो किंग तद अनुमान इति अपेक्षायाम पंचावय अनुमान विचार अनुमान का विचार करना है आगे कह दिया देह शब्द स्थूल सूक्ष्म शरीर ये अनुमान का विचार किधर गया कहे हनुमान का विचार करवाते हैं और नहीं किए सीधा तो आरम्भ कर दिए लेकिन उसको आगे कहते हैं भोजन करेंगे कह कर और आठ किलोमीटर चलेंगे वहाँ भोजन करेंगे आगे यहाँ देखिए बाईसवा श्लोक होता प्रथम में दिए ठीक है प्रतिज्ञा हेतु आगे क्या होता है पांचवे में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण यदि पंचावय अनुमान ये पांच हो गए तो उसमें कहते हैं देह पक्ष स्व व्यतिरिक्त दृश्य साध्यम दृश्यवाद हेतु यथा घट इति दृष्टान्त तो ये इतना प्रतिज्ञा से लेकर के दृष्टांत के आगे जो विराम है उसको पोष्ट कर दीजिए करके वहां लेकर के उसको डालिए यहाँ से लाइन खींच करके ले करके पूर्व पृष्ठा में जाना है प्रतीक अष्टादश श्लोक का टीका में जो देह इति प्रतीक प्रतीक के आगे विराम है विराम के आगे ये लाइन खींच करके लेकर के वहां तो देह हो गया पक्षी और स्व व्यतिरिक्त दृश्य ये हो गया साध्य दृश्य का हो गया हेतु यथावट ये दृष्टान ये वहां जाएगा ठीक है पूरा बहुत मतलब असंगत हो गया है आनंद गिरी महाराज जी का टीका है किंतु ये उतारने वाला लिखने वाले कुछ नहीं जाना प्रतिज्ञा हाँ प्रतिज्ञा से बिल्कुल प्रकट आरम्भ हो रहा है ये पूरा चला जाएगा उधर पांच अवय कहते हैं प्रतिज्ञा है तो उदाहरणों को प्रतिज्ञा से लेकर के दृष्टांत के आगे जो विराम है उतने दर तो पूरा चला जाएगा वहाँ देह इति प्रति के बाद इसमें जुड़ तो जाएंगे वहां से लाइन खींच करके वहां पर अच्छा आगे बाईसवा कारिका के लिए बुद्धि पूर्वक से कह रहे हैं बुद्धि आपने कह दिया बुद्धि तद वृत्तियों का जो साक्षी है वही मैं ऐसा कह दिया पूर्व पक्ष कहते हैं बुद्धि तद वृत्तियाम भावा भावयोर वेदिकृत्व त्रय विशिष्ट विक्रियावत कर्तव्य बुद्धि और बुद्धि का वृत्ति का भाव और अभाव ये बुद्धि और बुद्धि वृत्ति का भाव तो जागृत स्वप्न इत्यादि में रहता है इसका अभाव तो हो जाएगा इसमें बुद्धि तदवृत्ति नाम भावा भाव यो हो समाज से लेकेंगे भावा भाव यो अभावश्च भाव भाव भावयो भावा भाव भाव हो हमें कर्मा करेंगे आगे यो तो हो तो भावा भाव यो वेदित्व वेदित्व मतलब ज्ञातृत्व बुद्धि बुद्धिवृत्ति का भावा भाव का ज्ञातृत्व और अवस्था ज्ञापित्व किसका है कहते हैं अवस्था त्रय विशिष्ट जो जानता है वो अवस्था त्रय विशिष्ट है क्योंकि बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति जागरूक स्वप्न दो अवस्था में रहेंगे और सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहेंगे जो जानेगा वो तो अवस्था वाला होगा पूर्व पक्ष का कहना है तो जो अवस्था वाला होगा वो विक्रिया वाला हो जाएगा विक्रियावत शिव कर्तव्य विक्रिया होता मतु प्रत्यय है तद अस्य अस्ति तद अस्ति जैसे तद अस्य अस्ति कहते हैं गाव अस्य संति कहा जाएगा गोमान अथवा गाव अस्मिन ग्रामे संति इति गोमान ग्राम को भी कहा जा सकता है व्यक्ति को तद अस्य तद अस्मिन अस्ति प्रत्यय होता है तो विक्रिया वाला का भी ये कहना चाहिए तो क्यों कहते हैं तथा विधे लोके वेदित्व दर्शनार्थ लोक में जो वेदिता होता है ज्ञानता होता है जानता होता है तो उसका कुछ संस्कार बनता है नहीं बनता है बनता है तो जो भी लोक में ज्ञाता होता है दृष्टा होता है साक्षी होता है उसका अंदर भी में संस्कार आता है ऐसा घटना हुआ तो उसका अंदर भी संस्कार है संस्कार आया मतलब विकार हुआ तो लोग पक्ष कह रहा है कि जो भी साक्षी होगा दृष्टा होगा उसका अंदर में भी विद्या होगी तो विक्रिया होता है अंतिम देता है तथा विधेय लोके वेदित दृष्टो लोक में वेदित्व उसी प्रकार ही देखा गया है कि आशंक्य पूर्व से कहता है स्वप्न जागरिते सुक्ति भावा भावो धियां तथा भावाभावो धियां तथा योगेत्य विक्रियः साक्षात् योगेत्य विक्रियः साक्षात् सोऽहमित्यवधारय सोऽहमित्यवधारय स्वप्नजागरिते सुप्तिम् भावाभावो धियां तथा योगमेत्य विक्रिया साक्षात् सोहमित्यवधारय ज्ञान भावाभावो तथा स्वप्न जागृते सुक्ति ज्ञान भावाभावो तथा स्वप्न जागृते सुक्ति अभिक्रिय साक्षात वृत्ति यो अभिक्रिय साक्षात वृत्ति सोहम इति अवधारय ज्ञान भावाभावो ज्ञान क्या व्यक्ति हो जाएगी वृत्ति हो बुद्धि यहाँ बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि से मिला सकता भावा भावो बुद्धियों का भावा भावो और स्वप्न जागृत सुप्ति स्वप्न जागृत क्या वृद्धि हो जाएगी भावा भावो तथा स्वप्न जागृत सुप्ति यो व्यक्ति धियाम भावा भाव तथा सुप्ति क्या व्यक्ति हो जाएगा सुप्ति अच्छा धियाम भावा भावो भावा भावो क्या व्यक्ति होगी धियाम भावा भावो यो व्यक्ति धियाम भावा भावो यो व्यक्ति भावा भावो कर्म हो गया बुद्धि का भाव अभाव को जो जानता है इसी प्रकार के तथा सुक्ति ये क्या व्यक्ति हो जाएगी एक द्वितीय तथा सुक्ति यो व्यक्ति तथा स्वप्न जागृत यो व्यक्ति द्वितीय विविध क्रिया ये सबको जानता है ये सब कर्म हो गए स्वप्न जागृत तो यहाँ कैसे समा सकेंगे स्वप्न जागृत हमें स्वप्न जागृत हो जाएगा द्वितीय अधिवेशन में ना हाँ। हाँ। जागृत जागृत शब्द तो है स्वप्न जागरित तो ये भाई विभक्ति सुनना चाहिए हमको भी तो पूछ रहे हैं पर्वत फलम चाहिए पर्वतो फलम आपको कुछ पढ़ते नहीं चाहिए खाली पढ़ने वाला तो पढ़ाकर के पास में डर है आपको कुछ स्मरण ही नहीं रहता है पर्वत फले है तो इसी प्रकार के स्वप्न जागरित स्वप्न जागरित ये नपुंसकलिंग है जागरित तो विवचन जब द्वितिया विभक्ति हुआ विवचन होगा ये द्वितिया अगर बहुवचन हो जाएगा क्या नहीं होगा एक वचन हो जाएगा क्या तो क्या वचन होगा द्विवचन ही होगा तो अगर द्वितिया का द्विवचन ये निर्धारण हुआ तो फिर उत्तर पद कुंगली में हो जाएगा तो बन जाएगा क्या नहीं बनेगा तो या तो नपुंसक होगा नहीं तो स्त्रीलिंग होगा तो अंग आप होकर के ऋषि होकर के स्त्रीलिंग हो सकता है किन्तु जागृत शब्द कभी स्त्रीलिंग नहीं होता है को हो सकता है ये सब अर्थात व्याकरण विचार करके ये घटाते हैं पद का क्या अर्थ होगा तो स्वप्न जागरितम स्वप्न जागरित यो अभिक्रिय साक्षात व्यक्ति यो अभिक्रिय साक्षात जानता है अच्छा जो अभिक्रिय अभिक्रिय अर्थात विक्रिया को प्राप्त नहीं करके साक्षात जानता है साक्षात अर्थात इंद्रिय व्यवधान के बिना जब बुद्धि और बुद्धि वृत्ति को देखेगा किस इंद्रिय से देखेगा बुद्धि और बुद्धि वृत्ति को हाँ। इंद्रिय से नहीं देखेगा हाँ, इंद्रिय से नहीं देखेगा साक्षात साक्षी ही जानेगा तो इसलिए कहते हैं कि साक्षात व्यक्ति सो अहम बुद्धि बुद्धि वृत्ति को जो जानता है वो मैं हूँ बाकी कुछ भी पदार्थ को जानता है तो बीच में व्यवधान है करुणा है किन्तु जो बुद्धि बुद्धिवृत्ति को देखता है वो साक्षात जब हम अपना विचार को जानते हैं तब तो हम साक्षात साक्षी है स्थिति आत्मस्थिति है इसी को स्वरूप स्थिति कहा जाएगा वो सब न्यायिक वाली बात है वो तर्क का तो पाठ में चलेगा वहाँ आत्मा और मन का सहयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका मत नहीं आत्मा क्या पदार्थ है द्रव्य है माना तो क्या पदार्थ है द्रव्य है और द्रव्य द्रव्य हो संयोग हो जाएगा वेदांत मत में आत्मा कोई द्रव्य नहीं होगा अगर आत्मा को द्रव्य कहेंगे तो बाकी सब अद्रव्य होंगे क्योंकि यही एक ही पदार्थ है रज्जु और सर्प ये दोनों का वास्तव संयोग होगा ना समवाय होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि सत्ता अलग है इसी प्रकार के वेदांति कहेंगे कि पारमार्थिक सत्ता और एक व्यावहारिक सत्ता ये कुछ संबंध नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हो जाएगा रज्जु और सर्प में भी संबंध मानना पड़ेगा अब वो कहना पड़ेगा संयोग होगा समवाय होगा तो ये अलग अलग सत्ता है ये पारमार्थिक सत्ता चैतन्य और जगत हो गया कल्पित ये मन कल्पित है आत्मा वास्तव पदार्थ ये दोनों में संबंध हो भी नहीं पाया ऐतिहासिक संबंध कहने से तो आप वहाँ आध्यासिक संबंध से नया एक लोग कहने के ज्ञान होगा आत्मा मन स्वयं को आध्यासिक संबंध मानेंगे अगर आध्यासिक संबंध का ज्ञान नहीं होगा वो तो कहेंगे आत्मा मनो संयोग मनो इंद्रिय संयोग इंद्रिय विषय सन्निकर्षण तो इतना सुख दिया होता है उनका बुद्धि ऐसा है यो व्यक्ति अविक्रिय सन साक्षात जो व्यक्ति सो अहम को मैं हूँ ऐसा निश्चय करे इसी प्रकार की सब निश्चय करे निश्चय करे अर्थात बार बार इसको विचार करते ठीक है यथा धियाम बुद्धिकृत वृत्ति नाम धियाम धियाम का अर्थ कहते हैं बुद्धिकृत वृत्ति नाम क्योंकि ध्यान बहुवचन दे दिया तो इसमें बुद्धिवृत्ति भावा भाव अभिक्रिय सन व्यक्ति भावा भाव अभिक्रिय क्या सूत्र लग गया भावा भाव अभिक्रिय सन व्यक्ति भावा भाव क्या व्यक्ति हो जाएगी क्योंकि व्यक्ति का ही कर्म है भावा भाव व्यक्ति तथा अवस्था अवस्था त्रयम अपनी अवस्था त्रयम क्या व्यक्ति है द्वितीय तथा अवस्था इसी का व्याख्यान हो गया अवस्था त्रयम तो अवस्था फिर क्या नियुक्ति हो जाएगी इसी का व्याख्यान है अवस्था त्रयम अवस्था त्रयम क्या नियुक्ति वो हो गया व्याख्यान व्याख्या हो गया अवस्था प्रथम आयोग व्याख्या हो गया द्वितीय और व्याख्यान मतलब व्याख्यान हो गया द्वितीय अवस्था त्रय में व्याख्यान है क्या भी होती है द्वितीय और उसका जो व्याख्या होगा वो प्रथमा हो जाएगा वो भी द्वितीय होगा द्वितीय नहीं होगा तो जब कहेंगे कि रामम और कहेंगे रामम पश्यम और रामम के आगे कहेंगे दशरथ पुत्र वो प्रथमा हो जाएगा रामम दशरथ पुत्र हाँ। पश्य तो ये व्याख्या में व्याख्या कहते हैं तो ये समान विभक्ति होना है ना तो इसी प्रकार की यहाँ अवस्था इसका अर्थ कहते हैं अवस्था त्रयम तो अवस्था त्रयम क्या व्यक्ति हुआ द्वितीय इसलिए अवस्था क्या व्यक्ति हो जाए ये द्वितीय बहुवचन रमा जैसे तथा अवस्था अवस्था अर्थात अवस्था त्रयम कितने अवस्था तीन अवस्था ये समान अधिकरण है उसी का व्याख्यान नहीं है अवस्था त्रयम कूटस्थ सन आत्मा साक्षात प्रतिपद्य श्लोक में कहा साक्षात व्यक्ति तो साक्षात का अर्थ लिया कूटस्थ सन कूटस्थ अर्थात निर्विकार होकर बुद्धि की वृत्ति को हम पहले जाने जानने का समय में हम विकारी हो जाते हैं बुद्धि में जब बहुत ज्यादा एकदम कहते ना चक्की जैसा की बुद्धि तब अभिकारी और रह पाएगा शुरू शुरू में नहीं रह पाएगा तो उस समय कहते हैं कम से कम जान रहे कि ये बुद्धि ऐसा आप सकती है वो भी ठीक है कम से कम और नहीं जान करके बिल्कुल एकदम खींचे जाना वो तो दुरावस्था है कम से कम जानता है ऐसा बुद्धि करती है तो ठीक है और बुद्धि ऐसा करती है और उससे कोई चिंता भी नहीं होती ये थोड़ा ऊंचा अवस्था हो जाएगा हमको जानना है कि अभी हमको पता भी नहीं चलता बुद्धि कभी खींच करके जैसे कहते ना समुद्र में नौका कभी इधर तो कभी उधर वो तो बहुत दुष्ट अवस्था है तो उसके लिए ज्ञान मार्ग तो कठिन है आज कहेगा उधर तो कल कहेगा तो ये कठिन है उसका ऊंचे अवस्था बुद्धि घिस रही है और हमको पता चल रहा है हम दरवाजा बंद करके रो रहे हैं कब रहे <laughs> पता चल रहा है तो ये स्थिति थोड़ा ऊंचा है उससे और ऊंचा है कि बुद्धि कुछ कर रहा है और हमको पता चल रहा है उल्टा पुलटा कुछ कर रही है बुद्धि और हमको पता चल रहा है ये और थोड़ा ऊपर हुआ धीरे धीरे इसी प्रकार की गति चलती है हमको जानना पड़ेगा कि हम कहा पहुंचे तो इसीलिए प्रथम स्थिति में तो बिल्कुल उंगली पकड़ करके रहना है नहीं तो, तो बुद्धि के साथ कहते हैं वायु नाव मीमांबसी वायु नाव मीम अम्बसी अम्बसी जल में जैसे वायु नौका को जल में क्या करेगा इधर से उधर अगर वो नाव को हम स्थल भाग में रख देंगे वायु फिर कर देगा नहीं इसलिए आरंभिक अवस्था में कहा जाता है अर्थात स्थल भाग में रहूंगा तो रोको जल में रखेगा तो वायु बहाएगा अर्थात पकड़ करके रखना है फिर धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ता है तथा अवस्था अवस्था अर्थात अवस्था प्रेम की कूटस्थ सन कूटस्थ होता हुआ आत्मा साक्षात प्रतिपद्य प्रतिपद्य जाना आत्मा साक्षात जानता साक्षात अर्थात अन्य व्यवधान इंद्रिया का व्यवधान के बिना तथा च त्रय से विक्रियाणाम वेद्यकोटी अभी जो त्रय हो गया और जो विकार हो गया बुद्धि के वृत्ति बुद्धि के वृत्ति और जो अवस्था त्रय हो गया ये दृष्टा कोटि में है ना दृश्य कोटि में है हम उनको जान रहे हैं ना वही जान रहे हैं दृश्य कोटि में दृश्य कोटि में हम जान रहे हैं बुद्धि का वृत्ति को हम जान रहे हैं अवस्था को हम जान रहे हैं अभी हमको जागृत है अभी हमको स्वप्न है अभी हमको सुसुप्ति है ऐसा हम जान रहे हैं तो हम दृश्य कोटि में आए दृश्य कोटि में आए तो हम कैसे उनके साथ मिलकर के विकारी हो जाएंगे तो ये जान लेते हैं अवस्था त्रयस्य विकाराणाम विकाराणाम अर्थात बुद्धि वृद्धि नाम ये सब वैद्य कोटि निवेशात वैद्य कोटि वैद्य दृश्य ये कोटि में आ गए हम उनको जानते हैं और जो हमारे द्वारा जाना जाएगा वो हम है नहीं जिसको हम जानेंगे वो हम नहीं नहीं है ये सामान्य नियम है तो इसलिए आरंभ में क्या करना पड़ता है जो बुद्धि बहुत ज्यादा घिसना आरंभ करता है कभी कभी थोड़ा पता चलता है फिर बाद में हम बह जाते हैं तो बुद्धि जिस समय घिसना आरम्भ करेगी उस समय कहना है कि तो घटा फिर हम आप जान रहे हैं इसलिए हम तो आपसे अलग दो चार बार कहे उसके बाद चोट से चाहे गिर जाए किंतु शुरुआत में गिर नहीं जाना बुद्धि जब घिसना आरम्भ करती है ऐसा नहीं कि तुम प्रथम घिसने से हम गिर जाते हैं कुछ तो घिसता है फिर आगे हर हम हमसे संभाला नहीं जाता फिर हम गिर जाते हैं जिस समय में हम संभल करके रहते हैं उस समय में कम से कम एक दो तो उसको भी लगाए क्या कहते हैं हम तो आपको जानते हैं हम तो आपसे अलग है आगे हम हार जाए कोई बात नहीं किंतु तो ऐसे अगर दो चार बार भी कहेंगे ना अर्थात मतलब तो हमको भी अब तीर मारना आता है उतना आप जैसा नहीं आता है कि थोड़ा थोड़ा आता है ये जो दो चार तीर चलाएंगे हम जानते हैं आप घिसते हैं वो करके ये दो चार तीर चलाने से हमारा संस्कार होता है तो जब भी अर्थात बुद्धि सामान्य विचार भी उठाती है विपरीत हम उसको ये कहने लगते हैं हम जानते हैं बुद्धि को जानते हैं आपको इसी प्रकार की अध्यापक से बात करें जितना ये करेंगे उतना संस्कार बढ़ेगा ये काम होगा संस्कार नहीं होने से बिल्कुल गिर जाते हैं संस्कार इसी प्रकार को बढ़ाना होता है जैसे वैद्य कोटि में आने से न वेदितुर आत्मनो अवस्थावत्व विक्रियावत्व इसलिए न वेदितु आत्मनो आत्मनो आत्मन आत्मन है वेदितु आत्मन अधिकरण है वैदिक क्या मृत्यु हो जाएगी ष्ठी ष्ठी आत्मन ष्ठी ष्ठी तो वैदिक आत्मन अवस्थावत्व पहले न दे दिया था तो वेदी का जो आत्मा है उसका अवस्थावत्व नहीं है अर्थात आत्मा अवस्था वाला नहीं होता है और विक्रिया वत्व जो तो आत्मा भी विक्रिया वाला नहीं होता है हम विक्रिया वाला नहीं है हम बुद्धि को कहेंगे आप विक्रिया वाली होती हो हम विक्रिया वाला नहीं है इस प्रकार की ये श्लोक उच्चारण करेंगे स्वप्न जागृति सुक्ति भावाभावोधियां तथा यो वेद्यमिक्रिय साक्षात् सोहमित्यावधारय किंच कहते हैं आत्मा देहात विद्यते तद अवभाषकत्वात् इसमें पक्ष क्या हो गया आत्मा साध्य देहाद विद्यते अर्थात मतलब देहाद भिन्न अर्थात साध्य हो जाएगा देहाद भेद देह भेद ये साध्य हो जाएगा हेतु हो गया सदवभाषकत्व तद अवभाषक आत्मा देह से भिन्न है क्योंकि तद अवभाषक तद पद से आत्मा देह आत्मा देह से भिन्न है क्योंकि देह का अवभाषक है हम देह को जानते हैं तो इसलिए हम देह से भिन्न है देह भी तो थक जाता है हमको पता चलता है नहीं चलता है तो यही हम जानते हैं देह को जानते हैं हाँ? हम लोग जब नीलकंठ जाते हैं कभी कभी देखेंगे एकदम 20-25 साल का लड़का भागेंगे और जाकर के थोड़ी दूर में <laughs> और हम लोग डंडा पकड़ करके एक एक कदम चलते रहेंगे लगातार चलते रहेंगे बैठेंगे नहीं ये चलने का ये उसका तरीका है हम उतने जोर ही चले जिससे हमको सांस बिल्कुल भी खुले न अर्थात जितना हमारा शरीर का शक्ति है उतने ही हम लेकर के चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे ये आध्यात्मिक अर्थात जितने ही सामर्थ्य उसी को चला करके चले ये हम कई बार हम लोग जो जाते हैं हम देखे हैं तो कभी कभी लोग देश से आएंगे कहेंगे बाबा जी चलिए हम लोग के साथ हम कहते हैं इसे पक्की आना सीधा कहते हैं पक्की आना गंदा है तो, तो जाकर के आगे बैठ करके फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहेंगे और हम धीरे धीरे जाकर के उनको कहेंगे बाबा जी बैठिए मतलब हमारे पग गया है ना डंडा है ना एक बार ऐसा हुआ और हम जाकर के पहुंचे और तीन चार बार बैठ करके जाकर के हम जाकर जो खड़े हैं और वो पीछे से आए तो आकर के आप पहले से पहुंच गए मतलब हमारे पक गया है ना डंडा है हमारा <laughs> इसलिए हम सीखे हैं ईश्वर जीवन में तो यही सब होता है हमेशा धीरे धीरे धीरे धीरे चलता रहे ये बता गिर न जाए बैठ न जाए थक न जाए ये बता ज्ञाति कहते हैं यो यद अवभाषक भिद्यते जो जिसका अवभाषक होता है वो उससे भिन्न होता है ये व्याप्ति हो गया तो अभी अनुमान में देखिए आत्मा देह से भिन्न है क्योंकि उसका अवभाषक है व्याप्ति भी कह दिए जो जिसका अभाषक होगा वो उससे भिन्न होगा यथा प्रदीपो घट अभाषक प्रदीप घट का अभाषक है होने से क्या हो जाएगा घट से भिन्न होगा घटा भिन्न अनुमान है न आत्मनो देहा देहा पाठ संशोधन कर काट दीजिए श्याम श्या को काट करके देहा दो इतना पाठ चाहिए देह तो है प को हा करके श्या को काट करके दो बनी है अर्थात देहा अतिरेकम दर्शक प्रदीप घट का अवभाषक होने से घट से भिन्न होता है इसी प्रकार की आत्मा भी देह का अवभाषक होने से देह से भिन्न होगा तो और वेदांत तो मार्ग में चलने से हमेशा पहले ध्यान देंगे कि हम आत्मा को खोजने का उद्यम न करें ये एक महान त्रुटि है क्योंकि खोजने का अर्थ है हमारा बुद्धि रहती है कि हमको जैसा खोजने में आदत है हम ऐसे ही खोजते रहेंगे हमको कैसा खोजने आदत है ये है वो है ये है हम आत्मे से भिन्न पदार्थ को खोजने का आदत है इसलिए आत्मा को कभी खोजने का बुद्धि करना मतलब ये जब तक हमारे ऐसी बुद्धि कि आत्मा को हम खोज रहे हैं आत्मा को पाना है तब तक ये हमको कभी भी नहीं मिलेगा जब भी इस प्रकार के विचार हो कि हमको आत्मा को जानना है कहते मैं ही मैं जो जानता हूँ यही आत्मा है कहते हमको इस प्रकार लगता नहीं हाँ, वो अलग किंतु तो हमसे कोई भिन्न पदार्थ और हम आत्मा ऐसे है मतलब वो आत्मा हमसे कोई भिन्न है हम उसको खोजने का उद्यम करते पहले ये बुद्धि को हटाना है अज्ञान को हटाना अर्थात हमसे जो सटे हैं उनको हटाना है अर्थात इसमें बुद्धि लगाना है हमको क्या हटाना है क्या पाना है ये बुद्धि रखेंगे तो कभी आत्मज्ञान होता है हमको क्या हटाना है क्या छोड़ना है इसलिए कहते हैं त्यागे नहीं के अमृतत्व हो क्या छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे बुद्धि ये होनी चाहिए आज क्या छोड़ दिया आज क्या छोड़ दिया ये बुद्धि होनी चाहिए मिलना है मिलना है ये बिल्कुल विपरीत बुद्धि है ये तो संसार बुद्धि हो गया छोड़ना है छोड़ना है ये बुद्धि करेगा तो छोड़ना है छोड़ना है कहते सब कपड़ा ये सब छोड़ करके शरीर को भी छोड़ दें कहते ये मूर्ख बुद्धि है छोड़ना है छोड़ना है अर्थात आवश्यक से अन्य पदार्थ को छोड़ देना है आवश्यक पदार्थ को मिथ्या सिद्ध करके ये मैं नहीं हूँ विचार से निश्चय कर लेना है ये शरीर को कैसे छोड़ देंगे गंगा जी में फेंकेंगे फिर पुनर्जन्म होगा मछली होकर भी पुनर्जन्म हो जाएगी तो उस प्रकार के कार्य नहीं करना है हम उससे भिन्न है इस प्रकार करना है पाने का नहीं है खोने का बुद्धि रखने से काम जो होगा घटा विद्यते अनुमान आत्मनो देहाद अतिरेक दर्शे आत्मा देह से अतिरेक भिन्न है घटावभासको दीपो घटावभासको दीपो घटादन्यो यथेष्यते देहावभाषको देहि देहावभासको देहि तथा हंबोध विग्रह दीपो यथा घटावभाष को दीपो घटा अन्यो ईष्यते इस प्रकार करना यथा घटावभाष को दीपो घटा अन्यो ईष्यते आगे चतुर्थ पाद में तथा देहावभाष को देही बोध विग्रह अहम यथा जैसे घटा घटावभाषक दीप है और वो तो अन्य है घट का उपासक तो घट से अन्य है थे ये हम चाहते हैं ऐसे ही है तथा तो उसी प्रकार की देह का अवभाषक देही अवभाषक होता ज्ञाता देह को जानने वाला देही और बोध विग्रह मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कहते मैं ज्ञान रूप ही हूँ बोध विग्रह बोध एवं बोधो विग्रहो यश विग्रह का स्वरूप ओ मैं हूँ मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ ठीक है पहले आप कहते घट दृष्टा घटा भिन्न सर्वथा न घटो यथा फिर यहाँ वही बात कहते हैं जो जिसका अवभाषक है वो उससे भिन्न है पहले जो जिसका दृष्टा है वो उसे भिन्न कहते अभी अभी अवभाषक कहते हैं तो इसलिए कहते हैं घट दृष्टा इत्यत्र दृष्टित्व आत्मनो देहा अन्य उत्तम वहाँ दृष्टा रूप से भिन्न कहा गया था अभी यह तो साक्षीवाद आत्मा साक्षात देहात भिन्नत्व मुख्यते यहाँ तो साक्षी वहाँ दृष्टा यहाँ साक्षी वास्तव में यहाँ साक्षी शब्द नहीं करके वहाँ दृष्टा यहाँ प्रकाशक जैसे कहेंगे ये जो विद्युत है ये ये सब का प्रकाशक है किंतु ये इसका दृष्टा है क्या इस प्रकार के दो अलग अलग अर्थ है ना इसी प्रकार के यहाँ लेना है पहले घट दृष्टा कह करके दृष्टित्व आत्मा देह से भिन्न यह तो साक्षित्व साक्षित्व अर्थात प्रकाशकत्व और भाषकत्व ये दोनों थोड़ा अलग अलग है आत्मन साक्षा देहात भिन्न इसलिए अपौनरुक्त्यम इसमें कोई पुनरुक्ति नहीं है प्रथम पुनरात्मनो देहा अवभाषकत्व आशंख्या आत्मा देह का अवभाषक कैसे होगा जैसे दीपक घट का अवभाषक ये तो हम देखते हैं तो आत्मा देह का अवभाषक कैसे होगा इसकी आसंख्या अखंड स्पूर्ण रूप से सन्निधि मात्र आत्मा तो असंग कुटस्थ है कैसे किसको अवभाष करवा देगा कहते हैं अखंड स्पूर्ण रूप अखंड अर्थात रूप रूप करके ज्ञान रूप होगा ऐसा नहीं है नित्य ज्ञान रूप है स्पूर्ण रूप होता है ज्ञान अखंड स्पूर्ण रूप से सन्निधि मात्र इसका सन्निधि मात्र से ही शरीर को प्रकाश करेगा वास्तविक आत्मा बुद्धि को प्रकाश करेगा बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश करेगा इंद्रिय देव को प्रकाश करेगा अर्थात चैतन्य आगे आगे इस प्रकार से फैलेगा सन्निधि मात्र न जो भी सब चेतन बढ़ते हैं वो आत्मा का सन्निधि मात्र से ही होता है ये तेईस श्लोक उच्चारण करेंगे दीपो घटादन्यो